चक्षुषा समीक्षामहे सम्मान्य विद्वद्गण अपने आर्य समाज के अधिकारी मानुभाव माताओं ब्रह्मचारीगण मैं और आप या प्राणी मात्र जिस बात को चाहता है उसकी पूर्ति हम किस प्रकार से कर सकते हैं इसको जानना चाहिए अनेक विषयों की चर्चा अनेक दृष्टि से कुछ बातें आपके समक्ष रखता हूं प्रथम बात आपने कुछ पहले कार्यक्रम जो यहाँ पर रहा उसमें लगभग ढाई मास या कुछ पौने तीन मास लगभग समय यहाँ लगाया और आपने उसको सुनने का प्रयास किया यदि आपने उस ढाई मास के लगभग काल में ध्यान से सुना होगा उसको लिखा होगा मनन किया होगा तो आपके जीवन में परिवर्तन हो चुका होगा ये ब्रह्मचारियों के लिए विशेष रूप से बात कही गई यदि आपने उसको ठीक ध्यान से सुना नहीं और मनन नहीं किया व्यवहार में लाने का प्रयत्न नहीं किया होगा तो परिवर्तन कुछ नहीं आया होगा आपके जीवन ये अच्छी तरह देखना आत्मनिरीक्षण से पता चल जाता है कि मैंने जो सुना सुनाया लिखा पढ़ा उसको कितना मैं जीवन में ला रहा हूँ ला पाया हूँ उसके करने से मुझे लाभ क्या हुआ ये पता चल जाता है और कोई व्यक्ति ध्यान ही नहीं देता उसको कोई पता नहीं चलता मैं आपसे पूछू क्या इतने दिनों तक जो आपको गंभीर से गंभीर मोटी से मोटी बातें और व्यवहार पठन पाठन और उपासना तीन को लेके व्यवहार में एक विभाग है पठन पाठन का दूसरा विभाग है उपासना का तीसरा विभाग है इन तीनों को लेके आपने कितना सुना कितना पढ़ा और अब आप ये अनुभव करते हो कि कुछ परिवर्तन आया अथवा नहीं आया जिसको आया हो बताएगा आप में से कोई परिवर्तन आया किसी में या नहीं आया जिसके जीवन में परिवर्तन आया हो वो आप में से बताएगा तो आपने कुछ अनुभव किया यदि ऐसे ही अनुभव आप करते जाएंगे तो कालांतर में पूरा परिवर्तन आएगा जीवन परिणाम यह होता है अपना जीवन व्यक्ति का जीवन तो ऊंचा अच्छा बनता ही है वो सुखी होता है व्यक्ति दुखों की निवृत्ति करने में समर्थ होता है और फिर समाज को राष्ट्र को आगे बढ़े तो पूरे <clears throat> विश्व को वो देन देता है दूसरा व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता इस पद्धति से चलने से <clears throat> हम स्वयं को सुखी बना लेते हैं दुखों से बचते हैं और फिर समाज को राष्ट्र को विश्व को हम दुखों से बचाने में समर्थ होते हैं ये शैली पद्धति वेदों दर्शनों उपनिषदों ऋषियों की परंपरा की है सारी यद्यपि आप कितना समझ पाते हैं ये अलग विषय है जो आपको पढ़ाया सिखाया सुनाया जाता है वो वेदों की विद्या है ईश्वर प्रदत्त अथवा ऋषिकृत ग्रंथों की है उसको साथ जोड़ो अथवा उनको पढ़ना पढ़ाना स्वयं के अनुभव मेरे होते हैं वो मैं सुनाता हूँ यूं के तुम चाहे वो योग के हों चाहे वो व्यवहार के हों चाहे वो पठन पाठन के हों सामाजिक कार्य करने के हों वो सारे के सारे इस रूप में आते तो इस प्रकार से यदि आप मानेंगे सोचेंगे तो निश्चित बात है मैं और आप सभी जो चाहते हैं सारे दुखों से छूट जाएं नित्य सुख को प्राप्त कर ले में और समाज को भी यही स्थिति प्राप्त करवाएं तो वो हो जाएगा पूरा अब एक कार्य हमारे सामने है ये व्यवहार के क्षेत्र में है कि अब हम शिक्षण शिविर लगाएंगे उसको हमें अच्छे से अच्छा कैसे लगाए किस प्रकार से हम लोगों के साथ व्यवहार करें उन लोगों को हम क्या देने दें ऐसी जो यहाँ आके वो सुखी हो उन्नत हो जावे ये मन में रखना पड़ता है पढ़ाने की दृष्टि से उनको क्या क्या पढ़ाएं क्रियात्मक रूप में उनको हम क्या उपासना की रीति सिखाएं व्यवहार में उनके लिए हमें किस प्रकार की सुविधा देवें जिससे उनको दुख ना हो वो व्यक्ति इस सारे व्यवहार को लेके जान के हमारे साथ संबद्ध हो जाए उनकी प्रीति बढ़े ईशो इस प्रकार का व्यवहार करते हैं दूसरों के साथ तो उससे अपने जीवन का भी सुधार होता है और दूसरों का भी होता है यदि इसमें ध्यान नहीं दिया जाए तो तो उल्टा होगा सब उन लोगों के ऊपर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा अच्छे ढंग से उनको पढ़ाएंगे नहीं हम उपदेश नहीं देंगे तो अच्छा प्रभाव नहीं पड़ने वाला यदि हम उनको उपासना की रीति ठीक नहीं सिखाएंगे तो अच्छा प्रभाव नहीं पड़ने वाला यदि हम उनको आवास भोजन की व्यवस्था पूरी की पूरी नहीं देंगे तो अच्छा प्रभाव नहीं पड़ सकता परिणाम एक दूसरा परिणाम हमारे ऊपर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा कारण हमने ये बात जो कर्तव्य थे वो नहीं किए इसलिए हमारा जीवन भी बिगड़ेगा नहीं कि उन्हीं को दुख होगा परिणाम ये होगा आत्मनिरीक्षण हम करेंगे तो हमको बुरा लगेगा कि हमने अच्छा काम नहीं किया और इन सभी बातों को देखते हुए बड़ी सावधानी से हमको देखना होता है कि क्या हमारा व्यवहार उनके साथ कोई ऐसा तो नहीं है जिससे उनको कुप्रभाव पड़ता हो वो देखे न देखे हमारे व्यवहार को हम ध्यान देते हैं देखो ये हमको आदर्श मानते हैं हमको ये पढ़ा लिखा विद्वान मानते हैं और हम कुछ ऐसे व्यवहार करेंगे क्रोध से बोलेंगे उनको कुछ दुख दे देंगे या धमका देंगे कभी तो वो उनके ऊपर कुप्रभाव पड़ेगा ये एक एक चेष्टा उसमें करनी पड़ती है तो इसका ध्यान रखेंगे आप एक अंश है इसमें जो ब्रह्मचारी हैं नए हैं चाहे वो कार्यकर्ता भी क्यों ना हो उनको इससे एक अवसर मिलता है निष्काम भावना से सेवा करने का अवसर निष्काम भावना से हम दूसरों की सेवा कैसे करें ये प्रशिक्षण ले लेना चाहिए ये निश्चित बात है कि जो व्यक्ति निष्काम भावना से दूसरों की सेवा नहीं करना जानता नहीं समझता जानता है तो करता नहीं वो व्यक्ति अपने लिए समाज के लिए हानिकारक होगा लाभप्रद नहीं होगा इसका एक बहुत बड़ा भाग है समाज में रहना मिलकर के चलना दूसरे को सहयोग देना और निष्काम भावना से कार्य करते रहना ये व्यक्ति के उत्थान का कारण है बहुत बड़ा कारण इसके बिना व्यक्ति उन्नत हो ही नहीं सकता एक बहुत बड़ा विवाद तो इसको ध्यान में रखिए ये व्यवहार में कैसे सीखते हैं पढ़ाने वाला कैसे पढ़ाता है वो व्यक्ति कहता है इसका पढ़ाने का ढंग बहुत अच्छा है वो उपदेश देने वाला जो उपदेश देता है तो देखता है व्यक्ति बहुत अच्छा उपदेश देता है कितना अच्छा समझाता है उससे हमने सीख लिया फिर खाने पीने लेने देने उठने बैठने में ये व्यक्ति कैसे व्यवहार करता है ये दूसरे से बात कैसे करता है दूसरा व्यक्ति थोड़ा सा क्रोधित हो जाए तो ये कैसे सहन करता है उसको देखता रहता है तो वो सीखता जाता है अब एक व्यक्ति इन बातों का ध्यान ही नहीं करता कुछ वो कुछ नहीं सीखता क्या समझ में आया आपका दोहरा लो जो जो वहां उपदेशक विद्वान अच्छा व्यवहार करने वाले जो जो करते हैं उसको व्यक्ति देखता जाता है और देखता जाता है उसको पकड़ता जाता है कभी कभी किसी भूल हो गई ये भी ध्यान देना उसके सामने आ गई वह भूल आ गई तो उसने क्या किया देखो इस भूल के कारण या दुख हुआ दूसरे को मैं ऐसा नहीं होने दूंगा क्या समझ में आया इस भूल के कारण अन्य को दुख हुआ उसने देख लिया खड़े खड़े उसका कोई संबंध नहीं था वो दूसरे को देख रहा था तो कहने क्या मैं ऐसी भूल नहीं करूंगा वो झट किसी की त्रुटि सामने आ गई उन्हें देखना नहीं था आ गई तो उसने झट देखा कि यहाँ यहाँ भूलें होती हैं फिर कहने का यहाँ भूलें होती हैं एक उदाहरण देता हूं मैं एक आचार्य गुरु पढ़ा रहे हैं और वो पढ़ाते पढ़ाते प्रकरणांतर चले गए दूसरे प्रकरण को छेड़ बैठे एक उपदेशक उपदेश देता देता प्रकरणांतर में चला गया और बहुत समय उसमें निकल गया इतने में समय हो गया तो उसने देखा इसने क्या भूल की इनका जो प्रकरण चल रहा था वो तो छोड़ दिया और इसने दूसरी बातें व्याख्यान करनी शुरू कर दी भूल ये हो गई इससे मैं ऐसी भूल नहीं होने दूंगा वो यहीं से उसने दोस्त को देखा ऐसे नहीं होने देना चाहिए तो ऐसे सीखता है व्यक्ति उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते वो व्यक्ति देखता जाता है तो सीखता जाता है अब एक बात दूसरी मिलके काम करने में क्या सावधानी और वो अपने अधिकारियों के लिए भी आपके लिए सबके लिए होगी जब हम मिलके काम करते हैं जैसे आर्य विकास को हमें संचालित करते हैं विद्यालय चलाते हैं साहित्य प्रकाशित ये सब ब्रह्मचारियों को विद्वान बनाते हैं हम मिलके चलते हैं ब्रह्मचारी और अध्यापक मिलके चलते हैं अध्यापक लोग आपस में मिलके चलते हैं जो मिलके कार्य करते हैं उसमें क्या करते हैं हम उसका ढंग पद्धति सुनाता हूं दो जने चार जने छह जने मिलके जब काम करते हैं तो मिलके करते तनमन धन से मिलके करते एक अनुशासन में रहते तो उस कार्य को इस रूप में करना मिलके करने में एक दूसरा व्यक्ति दूसरे का सहन करता है दोष गुण सभी में होते हैं ईश्वर में नहीं होते दोष तो वो एक दूसरे के सहन करता है और सहन करते जाते हैं आपस में मिलकर चलते रहते हैं कभी किसी से भूल हो गई कभी किसी से भूल हो गई वो सहन कर लेते एक दूसरा सहन करता जाता है और समाधान जिसे भूल हुई वो सावधान हो जाता है मुझसे भूल हो गई आगे ऐसे भूल न होने देनी चाहिए वो ऐसा ध्यान देता दूसरा उसका सहन करता है यदि वो भूल करने वाला सहन न करे नहीं ये अनुभव न करे कि मुझे भूल हो गई थी आगे तो वो भूल इतनी बढ़ जाएगी आगे तनाव पैदा कर देते क्या समझ में आया भूल करने वाला व्यक्ति बार बार समझाने पर भी सहन करने पर भी फिर भी भूल करता रहता है तो परिणाम ये निकलेगा आगे विघटन हो जाएगा बुझा समझ में सहन करने वाला व्यक्ति एक सीमा तक सहन नहीं करता तत्काल उत्तेजित होता है तो भी विघटन हो जाएगा जिसे भूले होती हैं उसको सावधान रहना चाहिए और आगे भूले न हो जाए सहन करने वाले व्यक्ति को भी कभी अधिक सीमा तक भी सहन करना पड़ता है एक बात अब आगे बढ़ता हूं मिलके काम करते करते कुछ मतभेद आया सामने कल्पना करो तो उसमें क्या स्थिति है मिलके करना यह पहली बात एक अनुशासन में रहना यह पहली बात दूसरा जब सबके सब एक अनुशासन में नहीं रहते तो क्या करना चाहिए करना ये चाहिए कि आपस में भिन्न भिन्न प्रकार से कार्य करें और एक दूसरा व्यक्ति दूसरे की सहायता करे ये दूसरा पक्ष है मिलके काम करने वाले लोगों में हमारे एवं विकास के मिलके काम कर रहे हैं मान के चलो आज हम ये सोचते हैं कि मिलके काम करने में कुछ ठीक नहीं बैठ रही बात तो क्या करेंगे हम बुद्धिमत्ता ये है अलग अलग ढंग से काम वो भी करेंगे हम भी करेंगे ये भी करेंगे एक दूसरा दूसरे की सहायता है सहायता करेगा अब दोनों में सहायता मिलेगी और दोनों व्यक्ति काम करते चले जाएंगे ये दूसरा पक्ष सोचने का ढंग तीसरा पक्ष और सुनाता हूं एक दूसरा दूसरे की सहायता नहीं करता कुछ मन मुटाव आगे बढ़ गया थोड़ा सा कुछ ये हुआ कि नहीं ये काम ठीक नहीं है उसने सोचा कि ये काम ठीक नहीं है उसमें क्या करते हैं हम देखो सहयोग नहीं देंगे कोई बात नहीं पर बाधा भी नहीं डाले ये पति पत्नी का व्यवहार भी है ये गुरु शिष्य का व्यवहार भी है ये संस्थाओं का व्यवहार भी है अध्यापक परस्पर में कहते वहां ब्रह्मचारी और गुरु का व्यवहार सब जगह लागू होगा अब आप क्या समझ में पाए पहली बात कौन सी थी एक अनुशासन में रहना एक अनुशासन में रहने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ता है बहुत सी बातें वो सारी नहीं बताई जा रही एक अनुशासन में रहने से जो उपलब्धि होती है जो प्राप्ति होती है अन्य पक्षों में वो प्राप्ति नहीं होती दोहराओ एक अनुशासन में रहने से जो उपलब्धि होती है उन्नति होती है एक अनुशासन में उतनी भिन्न भिन्न विभाग बनाने में उन्नति नहीं होती आप भी बोल लिया करो कभी आपसे कोई पूछेगा ही नहीं तो कुछ नहीं आएगा कुछ बोलो कुछ कहो कुछ सुनो अर्जुन भाई जी को कहेंगे तो कहेंगे हम बूढ़े से क्यों पूछते हैं <laughs> ये पूछेंगे सबसे सब सामने बैठे हो तो दोहराओ तो ये सोचने का ढंग पद्धति विज्ञान है आप समझ रखना ऋषियों ने महर्षि दान सरस्वती जी ने योजना बनाई और दिमाग बनाया सब मत वालों को बुलाया कहने लगे ऐसे करो सारे के सारे जो एक सच्चाई है उसको सारे मान लो एक अनुशासन में सारे विश्व के लोग धर्म ईश्वर को मानो कल्याण हो जाए ये योजना बनाई सभी मतों के बुलाए भाई आम जिन जिन विषयों में हमारी एक बात है सारे एक हो जाओ जो अभी मत भेद है उसको दूर पड़ा रहने में वो रहेगा तो ये योजना सभी और ईश्वर ने भी एक उपदेश वेद विज्ञान दिया हमको वो सबके लिए एक इसलिए दिया कि सारे एक अनुशासन में रहेंगे पूरा भूगोल का मनुष्य एक अनुशासन में रहेगा ईश्वर के आदेश में रहेगा एक अनुशासन दिया हमको एक में रहना है दो नहीं बनाने इसलिए एक अनुशासन में रहने से हम उन्नत होते हैं और दो तीन बन जाते हैं तो फिर हमारी उन्नति कम हो जाती है ये निश्चित है आ गया समझ में या नहीं आया क्या समझ में आया बोल लो एक अनुशासन में रहते हैं तो उन्नति निश्चित है और एक में न रह के दो तीन हो जाए तो हानि हो जाएगी मनुष्य अल्पज्ञ है वो इतना परिश्रम संतुलित परिश्रम नहीं करता उनकी स्थिति जब बदलती है उनमें परिवर्तन आता है वो सोचते हैं कि हम दूसरे प्रकार से काम करना चाहते हैं अपनी स्वतंत्रता से काम करना चाहते हैं तो उस दूसरे पक्ष में बुद्धिमत्ता यह है कि दो व्यक्ति या जो भी व्यक्ति हो वो भिन्न भिन्न प्रकार से जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूं जो हमारे सामने आया कि एक समय था महर्षि दान सरस्वती जी के काल में एक पक्ष था हम गुरुकुल शिक्षा प्रणाली पाठ्यक्रम महर्षि दान का लिखा हुआ जो अष्टाध्यायी महावासे दर्शन वेद अंगुपांग उस पाठ्यक्रम को चलाएंगे और उस पद्धति से हम संसार का भला करें दूसरे स्वामी दान सरस्वती को मानने वाले उनके शिष्य परंपरा में आए वो कहते आधुनिक जो शिक्षा प्रणाली है कॉलेजों की स्कूलों की हम उसको चला करके इस संसार का भला करेंगे अपने महात्मा हंसराज जी और ये वर्ग दूसरा था और उसमें स्वामी श्रद्धानंद जी गुरुदत्त विद्यार्थी ये दो विभाग बन गए तो दो विभाग बन गए तो इनके वो कहने लगे हमारा भी हमारी हम जिस शैली से सोचते हैं उन्नति अधिक हो गई उन्होंने कहा आधुनिक ढंग से हम चलेंगे तो उन्नति अधिक हो गई अब ये बात आई ये मैं आपको प्रत्यक्ष जो घटना घट रही उसको लेके बोल रहा उसमें दोनों पक्षों ने अपना अपने ढंग से काम किया तो उसमें जितना अंश मिलके चलने का था वो लाभप्रद रहा जहां जहां और जहां जहां तनाव का पक्ष आया वो हानिकारक परस्परस में जो तनाव आएगा वो हानिकारक होगा उसमें जब दोनों के सिद्धांत टकराते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते अधिक टकराव हो जाता है छोटी मोटी बात का टकराव कुछ विशेष नहीं होता जैसे हम उदाहरण के रूप लेंगे केवल समझाने की दृष्टि है किसी के दोष दिखाने के लिए उन्होंने कहा हम तो लड़की लड़कियों को एक साथ पढ़ाएंगे गुरुकुल शिक्षा प्रणाली वाले ने कहा ये बहुत बुरा काम है अच्छा काम नहीं है एक साथ मत पढ़ाओ अब ये टकराव सिद्धांत का हो गया तो उसमें शक्ति बट गई आपस में दूसरे का खंडन दूसरे का वो तो उससे क्या हुआ कि उससे हानि होने लगी और जो संगठन की शक्ति थी प्रभाव करती थी औरों को वो हीन हो गई उसमें हानि तो वहां पर सिद्धांत तो सही रहने चाहिए दोनों के कुछ विचारधारा में अंतर हो जाए तो उसका सहन करते हैं दूसरे को सहयोग फिर भी देते हैं तो दूसरी बात मैंने आपको बतलाई कि भिन्न भिन्न रूप से काम करो पर सहायता करो दूसरे एक दूसरे का सहयोग दो वो दूसरे को सहयोग देता है वो दूसरे को देता है उसका प्रभाव अच्छा पड़ता है और दोनों के कार्य संपन्न होते हैं तीसरी बात सुनो ये संतुलन भी नहीं बनाया बनाया रखा जाता जो नहीं बन पाता तो तीसरी स्थिति में पहुंचते हैं हम उसमें यह है कि एक दूसरा व्यक्ति दूसरे को सहयोग नहीं देता परंतु इसमें एक बुद्धिमत्ता है कि सहयोग नहीं दो कोई बात नहीं पर बाधा मत डालो विरोध मत करो ये तीसरी स्थिति है कम से कम है ये कम से कम सहयोग नहीं दो तो विरोध मत करो विरोध करने से क्या क्या हानियां होती हैं वो बहुत लंबा क्षेत्र है जहां जहां ये स्थिति बिगड़ती आपने देखा सुना हो इतिहास को पढ़ाओ तो पढ़ लो नहीं पढ़ाओ तो जिस समय विदेशियों का आक्रमण हुआ था भारत पर उस समय भारतीयों की स्थिति ये थी उसमें ये पक्ष भी नहीं अपनाया गया कि हम दूसरे को सहयोग नहीं दे तो हानि भी न पहुंचाए एक दूसरा दूसरे को मारने लगा मान सिंह भारतीयों के उस विरोधियों के पक्ष में ईश्वर दल था वो अलग हो गया और उसोर उनकी सेना में प्रवेश कर करके गाजर मूली की तरह काटा क्यों भाई कम से कम आप सहयोग नहीं देते तो विरोध तो मत करो ये नहीं हो पाया एक दूसरे ने दूसरे को विनाश किया परिणाम ये निकला कि सारे भारत का विनाश हो गया आपको इतिहास याद नहीं हो तो देख लो पढ़ा लिखा मिलेगा जो जूंगा सारी धन संपत्ति इन विदेशियों ने ले जा ले ला के लूट लूट करके मार काट के अपने देश में ले गए भारत की भारत कंगाल बना दिया दरिद्र बना दिया आज भी वही स्थिति है भारत की आज भी वर्तमान में वही घटना जो की तो सामने खड़ी है और ये लोग आपस में लड़ रहे हैं दो चार व्यक्ति मिलकर नहीं रह सकते इतना भयंकर ऊपर से लेकर नीचे तक कि बीमारी चाहे राजनीति वाले हो चाहे धार्मिक संस्था वाले हो बिल्कुल रहने की स्थिति नहीं है इनकी मरने की स्थिति है आज वर्तमान तो मैं आपको फिर दोहराता हूं उन बातों को याद रखिए जैसे जैसे ये विघटन था आपस में एक भारत के लोग आपस में लड़े खूब लड़े कई जातिवाद था और कई अति घमंड स्वार्थ था राजपूतों में अति घमंड अति अभिमान विषय वासनाओं में पड़े रहना मांस खाना शराब पीना और दूसरे भाई को आगे न बढ़ने देने की ये भयंकर उनके अंदर ये रोग था और यदि ये राजपूत लोग इनकी बल और वीरता जो थी एक होते तो विदेशी राजा नहीं आ सकता है आ ही नहीं सकता इतने भी इतने महान थे अपनी शक्ति और इतनी वीरता थी इनके अंदर वो थी ही नहीं कहीं दिखाई नहीं देती है एक एक व्यक्ति ऐसा वीर तो आपस में वो दूसरे को मारने लगे और मारने लगे तो क्या किया विरोधियों के पक्ष में जाके मिल गए सेना में मिल गए पराधीनता स्वीकार की और भारतीयों को मारा काटा और विनाश हुआ कम से कम यहां रुक जाते कि भाई देखो हम भिन्न भिन्न प्रकार की शैली से काम करेंगे फिर दूसरे की हानि नहीं पहुंचाएंगे इतना ही भी कर लेते तो भी भारत पराधीन नहीं होता वो स्वयं मिला भारत की ओर से विरोधियों को भारत की ओर से शक्ति मिल गई योद्धा मिल गए उनमें सारी धन संपत्ति उनको दे दी सौंप दी उनसे समझौते करने लगे तो उनका साहस टूट गया तो ये तीसरी बात मैं सुना रहा हूं ये हानि वहां अब आगे बढ़ जाएगी तीन पक्ष मन रखे एक अनुशासन में रहना ये अपने लिए समाज के लिए अत्यंत उपयोगी है यदि एक में नहीं रह सकते तो दूसरा दूसरे की पूरी सहायता करो और वो दोनों उन्नत होते चले जाएंगे विरोधी का अवकाश नहीं मिलेगा विरोधी ये देखेगा ये दोनों एक दूसरे की सहायता करते हैं मैं इनके साथ झगड़ा करूंगा तो दोनों एक हो जाएंगे क्या समझ में आया नहीं आया समझ में दोहराओ क्या परिणाम निकलता उसका यदि देखेगा कि दोनों एक दूसरे की सहायता एक दूसरा दूसरे की सहायता करता है और दो, दोनों व्यक्ति संपन्न होते जाते हैं वो उसकी सहायता से वो उसकी सहायता है और वो देख ये देखता है तो वो जानता है यदि मैं एक के ऊपर आक्रमण करूंगा दुष्ट व्यक्ति तो ये दोनों एक हो जाएंगे और मुझे मारेंगे उसका साहस नहीं होता अच्छा जब दूसरा दूसरे को हानि पहुंचाता है तो क्या देखता है आप भी दौड़ा लो पीछे वाले गुमसुम बैठे जैसे हैं जब वो देखता है दूसरा दूसरे को मार रहा है इनमें से तो बहुत सरल आक्रमण करना इनको जीतना बहुत सरल है हमने वो पानीपत की लड़ाई और वहां की कथाएं सुनते रहते ना वो युद्ध हो रहा था युद्ध शांत हुआ जैसे होते होते शाम को हो गया मान लो और उन्हें वहां अग्नि जलती है वहां थोड़ी सी अग्नि वहां जलती है वहां थोड़ी जलती है तो ये विरोधियों विदेशियों ने पूछा ये अलग अलग अग्नि क्यों जला रहे हैं कहेंगे इनके आपस में वो छुआछूत है और दूसरे के साथ मिलके खा नहीं सकते फिर तो बहुत अच्छी बात है मारो काटो इनको उनको मारा काटा गाजर उंगली की तरह काट दिया क्यों देख लिया इनकी अग्नि अलग अलग जल रही है ये घृणा करते हैं दूसरे से ये दूसरे के अछूत समझते हैं ये नीच समझते हैं तो, तो मारे जाएंगे थोड़ी देर में आज अब ब्रह्मचारियों को रात को समझ में आ रही है या नहीं बात या नहीं आ रही या वैसे ही समय खो रहे हैं भैया बता देना मैं बंद कर दूंगा उसको ये स्थिति मैं आपको सुना रहा हूं ये बुद्धिमत्ता के काम जो है ये यहां तक सीमित हो जाते हैं कि भाई एक अनुशासन में रहो सबसे बुद्धिमत्ता है सबसे उन्नति का कारण है यदि वो न सहन हो तो दोनों दोनों अलग काम करो कोई भी दल हो सबके लिए पति पत्नी में भी यही लागू होगा पति पत्नी की अतिक्रमण हो तो अलग अलग हो जाओ भले आपत्ति आपस में झगड़ो नहीं अलग अलग काम कर दो हाँ फिर अलग अलग होने पर भी दूसरे की सहायता करो ये हो गया उनका और एक दूसरा दूसरे की टांग खींचेगा तो पति पत्नी दोनों मारे जाएंगे पिता पुत्र की भी यही बात है पिता पुत्र साथ रहेंगे ठीक है और जब साथ विचार नहीं मिलते एक दूसरा दूसरे से अलग अलग काम करें और पिताजी उसको सहायता दे बेटे को बेटा पिताजी को तो दोनों उन्नत होते चले जाएंगे ये दूसरा पक्ष है वो नहीं देते सहायता नहीं देते कोई बात नहीं है विरोध नहीं करते कब तो भी स्थिति बनेगी यदि जब विरोध करने लगेंगे तो दोनों मारे जाएंगे ये स्थिति रहती है चौथा जो पक्ष है दूसरे को गिराना स्वयं मरना मारना ये इतने बेसमझ लोग हैं इतने स्वार्थी लोग हैं इतने अज्ञानी लोग हैं जो चौथे पक्ष को अपना करके चलते रहते तो सबके लिए ये बात जानने की है समाज में परिवार में विद्यालयों में संगठनों में धर्म प्रचार कार्यो में राजनीति में मिलकर के कैसे चले हम और कैसे आगे बढ़े आए अब आप देखेंगे कि हम अपने जीवन के विषय में स्वयं व्यक्ति के जीवन के कैसे सोचते हैं कैसे विचार करते हैं स्वयं को बनाने में अच्छा बनाने में व्यक्ति को बहुत कुछ करना पड़ता है एक दूसरे के साथ व्यवहार दूसरे के साथ हम व्यवहार कैसे करें व्यवहार को सीखना पड़ता है आप देख सकते हैं छोटी छोटी बात और कुछ घटनाएं होती है उन पर ध्यान नहीं देता व्यक्ति और उनसे क्या होता है दूसरे को दुख होता है उसको वो देखता रहता है ध्यान ही नहीं देता जैसे हम कई बार कहते भाई इस दरवाजे को बंद कर दिया करो आते जाते समय मच्छर आ जाते वो क्या है बाहर निकलता है जब खुला दरवाजा <laughs> और अंदर घुसता है तब खुला आप कहते रहिए वो सुनता रहे अब बताओ ऐसा व्यक्ति कभी अच्छा बन सकता है कभी नहीं बनेगा बात छोटी ही है भाई दरवाजा खुला मत छोड़ो मच्छर आ जाते हैं मक्खी आ जाती वो बाहर निकलता खुला दरवाजा अंदर आता तब खुला दरवाजा और दूसरे को मच्छर काटते हैं <laughs> और वो कुछ भी नहीं सुनता ध्यान ही नहीं या नहीं है आप करते या नहीं करते ऐसा अपना बताओ आत्मदेव जी तो रोज करते रहते सामने बैठे वो ब्रह्मचारी है ना इनको ये इसलिए सुना रहा हूं कुछ सबके बीच में कहने से चाहते दरवाजा बंद करने लग जाए <laughs> फिर भी याद रखना एक बहुत बड़ा भाग है जिसको दूसरे के व्यवहार को बहुत सीमा उचित न होते हुए हम सहन कर जाते इसको नहीं देख रहे आप क्या समझे आप क्या समझ में आया इनका इतना उल्टा व्यवहार होते हैं हम सहन करते हैं बराबर भाई इस व्यक्ति को अच्छा बनाना ये नहीं इस बात को इतना भी सहन जिसमें नहीं वो भी अच्छा नहीं बनता व्यक्ति अब क्या समझ में आया बोलो दोनों बातों को देखो हाँ करो या ना करो मैंने क्या कहा उसको दोहरा लो इतना होते हुए भी फिर भी हम उनके विद्वान बनाने की प्रयास कर रहे हैं उनको धार्मिक बनाने का पुरुषार्थी बनाने का उन्नत करने का प्रयास कर रहे हैं ये भावना भी नहीं हो तो वो व्यक्ति भी महान महापुरुष नहीं बन सकता अब क्या समझ में आया आप राहो माताओ बोल लो कुछ तो अब समझ में ही नहीं आया तो फिर उपदेश किस काम का है साधक जी आप बोल दो ये तो बोलते नहीं बार बार हम किसी को तो फिर भी सहन कर लेना और उसको उन्नत करने का प्रयास करते रहना प्रयास करना तो उन्नति होगी वो व्यक्ति महापुरुष बन जाएगा नहीं तो नहीं बन सकता इतने सहन शक्ति उसमें रहनी चाहिए ये अतिक्रमण है जो किसी भी प्रकार से न माने उसको उसके लिए फिर क्या करें उसके लिए झगड़ा करके दूर करो एक स्थिति नहीं नहीं प्रेम से कहो आप नहीं चल पाएंगे ये अलग होने की स्थिति वही बात फिर आ गई सतत प्रयत्न करने पर भी इतना प्रयास करने पर भी वो व्यक्ति नहीं सुधरता नहीं मानता तो दो बातें आई झगड़ा करके तनाव करके तू तू मैं करके इसको दूर करो एक स्थिति नहीं नहीं तू तू मैं करने की बात ही नहीं है झगड़ने की बात ही नहीं है उसको कहो देखो आप चल नहीं पाएंगे ऐसा हमने देखा आप अलग से काम करो ये वहीं पर वहीं ये समाधान है झगड़ा करके दूर होना लड़ाई करके दूर होना ये बुद्धिमत्ता नहीं है कालांतर में वही व्यक्ति वही जो आज इस स्थिति में है जी वो फिर हमसे मिल सकता है यदि झगड़ा किया होगा तो मिलने की बात दूर हो जाएगी ये भी देख लो परिणाम झगड़ा किया होगा तो हम उसके साथ मिलने में संकोच करेंगे या कुछ दूर रहना चाहेंगे वो भी हमारे साथ मिलना नहीं चाहे यदि झगड़ा नहीं हुआ हो प्रेम से ही दूर हो गए हो तो वो हमारे साथ फिर मिल जाएगा हम भी उसके साथ मिल जाएंगे ये परिणाम निकलेगा दूसरा अंश मैंने सुनाया ये जो घटना मैं सुना रहा हूं ये अपने रहस्य में होती है हम दूसरे को कितना सहन करते हैं उसके कितने उल्टे व्यवहार को भी सहन करते फिर भी हम उसका भला चाहते हैं इससे हमारा जीवन में तप त्याग और सहन शक्ति आती है यदि आप दूसरे की बात थोड़ी सी भी सहन नहीं करते दूसरा भूल करता है आप उसका सहन नहीं करते बहुत दुखी हो जाते हैं तत्काल दुखी हो जाते हैं तो आपका जीवन भी अच्छा बनने वाला नहीं इसलिए ये अंश है व्यक्तिगत जीवन को हम जब अच्छा बनाने की बात सोचते हैं तो कहां तक जाते हैं कहां तक उसकी सीमा होती है ये जानना चाहिए अंतिम सीमाएं जब ये आ गई कि ये व्यक्ति सुधरने की स्थिति में नहीं है ये व्यक्ति नहीं सुधरता तो उस समय हम प्रेम से उसको कहते हैं कि आप अपना अलग कार्य करो और हम अपना अलग करें झगड़ा नहीं तनाव नहीं उस समय ये स्थिति आती है और सहन शक्ति की जो सीमा है वो बीच में वो बहुत दूर तक जाती है पर्याप्त सहन शक्ति चाहिए व्यक्ति को वो तप है और वो निष्काम भावना भी है उसमें कवि मनोविज्ञान भी है हो सकता है ये व्यक्ति अच्छा बन जाए हो सकता है ये व्यक्ति महान बन जाए क्योंकि डाकू आदि बुरे लोग भी महात्मा बन जाते हैं क्या बात है प्रयास करो ये प्रवृत्ति व्यक्ति की चलती है आप ब्रह्मचारी या दूसरे कोई भी हो ये प्रयोग कर करके देखते जाइए आपको पता चलेगा कि हम क्या क्या भूलें करते हैं और कैसे हमको सोचना चाहिए देखो एक अंश और सुनाता हूं व्यक्ति दूसरे की बात दूसरे के सामने और दूसरे की बात दूसरे के सामने कुछ कहता रहता है कभी अधिक भी कह जाता है कभी मिलावट भी कर देता है उससे क्या होता है आपस में तनाव उत्पन्न होता है झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं क्यों होता है ऐसा बिना सोचे कह गया कुछ और ये विचार भी नहीं कर पाता कि मैं ये बात कहूंगा तो परिणाम क्या निकलेंगे दूसरे की बात दूसरे के सामने कहूंगा तो क्या परिणाम निकलेगा ये वो सोचता नहीं है बात वो कहनी चाहिए जिसके कहने से लाभ हो हानि न हो ये देखना पड़ता है और परिणाम उसके अच्छे नहीं निकलते एक आदत अभ्यास पड़ता है व्यक्ति का जब तक वो दूसरे तीसरे की बात नहीं सुना उसका मन नहीं लगता इस भाव बना लिया जब तक इधर की उधर कोई नहीं लगाए ना वो दिन भर वो तब उसका मन ही नहीं लगे वो कहता भाई ऐसा मत किया करो नहीं उसकी उसके सामने उसकी उसके सामने झगड़े पैदा कर दे और उसकी आदत फिर रोको फिर वही करेगा ये मैं वो अंश सुना रहा हूं ये व्यसन मत बनाओ कि इसकी इसके सामने कहे बिना उसकी उसके सामने कहे बिना उसका मन ही नहीं लगे ये अभ्यास व्यक्ति का पड़ जाता है वो रुकता नहीं परिणाम यह है कि वो व्यक्ति स्वयं दूसरे के दोष देखने में प्रवृत्ति पैदा कर लेता है दोष देखना आरंभ कर देता है और उसका परिणाम यह होता है अपने दोषों को नहीं देख पाता परिणाम यह होगा दूसरे के दोष देखने की चेष्टा करता है अपने दोष नहीं देख पाता वो दूर होते ही नहीं वो ज्यों के तो पड़े रहते हैं एक दोष तो ये आता है दूसरा बुद्धिमान व्यक्ति उसको कोई अच्छा व्यक्ति नहीं मानता कोई कि ये व्यक्ति इधर की उधर करता है इधर की उधर करता है अच्छा व्यक्ति नहीं है दूसरे पर यह प्रभाव पड़ेगा उसको अब और सुनाता हूं आप कोई बात कहनी हो तो कहने का ढंग सीखो किसी का दोष बताना हो तो वो दोष बताने का भी ढंग सीखो सबको बताना नहीं आता कैसे बताना चाहिए कब बताना चाहिए किस रूप में ये यदि संतुलन न हो तो भी बिगाड़ होगा समाज में रहना जन समुदाय में रहना और अपने आप को बचा के चलाना दोष न आ जाए और आगे बढ़ते जाना बीच बीच की उलझनों में उलझन में न आ जाना ये बुद्धिमत्ता है समाज में रहेंगे आप चाहे परिवार हो चाहे समाज हो चाहे कोई संस्था हो उसमें इस ढंग से रहते हैं उलझन न हो अपने जीवन में उलझन न आए और फिर दूसरे में उलझन उत्पन्न हो जाए उलझन उत्पन्न मत होने दो कोई बात उभर के आती है तो दूसरे से मिलो मिल करके उसको ढंग से ढंग से सोचो कोई बात सुलझानी हो तो उत्तेजित होके नहीं प्रेम से बोल के यदि उत्तेजित होंगे तो दूसरा उत्तेजित हो जाएगा अब झगड़ा हो जाएगा सुलझाने की बात तो दूरी झगड़े हो जाएंगे इसलिए वहां प्रेम से सुलझाने का प्रयोग करना चाहिए तो ये कुछ बातें मैंने बतलाई अब आप अपने व्यक्तिगत जीवन को अच्छा बनाते हुए फिर समाज को साथ जोड़ के कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं इसको सोचो अब विराम और ये जो अपना कार्यक्रम है ये इसमें आप शायद पत्ते डालेंगे या क्या करेंगे हाँ पत्ते डालेंगे हम्म? कुछ कष्ट हो गया सोने की जगह नहीं मिली उसको वो कहे भाई अपने विकास में तो ना भोजन का प्रबंध है ना आवास का है वो ये प्रचार उसके दिमाग में तो ये तो इसलिए इतने लोगों को लिया जाए जिनको हम अच्छे से अच्छा भोजन खिला सकें अच्छे से अच्छा आवास का प्रबंध कर सकें इसका ध्यान रखा जाए अब इतने लोग आ जाएंगे तो फिर हम्म, आवास का प्रबंध ऐसा नहीं हो पाएगा विविध प्रकार का कष्ट होगा इसी प्रकार से भोजन निर्माण में अति कार्य होगा और आप भाग दौड़ में इतना कार्य करेंगे आपका अपना काम भी छूट जाएगा आप संध्या नहीं कर पाएंगे आप व्यायाम नहीं कर पाएंगे आप स्वाध्याय नहीं कर पाएंगे आपका छूट जाएगा और उनका भी दोनों पक्षों की हानि होगी इसे बंद कर दिया जाए भाई हम अब नहीं ले सकते हमारे पास इतना ही प्रबंध है बस ये ध्यान रखा जाए अब विराम